जब अशोकन बिल्कुल शांति से सब कुछ बयान कर रहा था पहले ही वो पुलिस को ये बता रहा था कि उसने कैसे कैसे करके एक एक लोग का मर्डर किया था लेकिन फिर भी वो ये सब बातें कुछ इस तरह से बयान कर रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात हो इसके बाद मैंने फिल्म क्रू में काम करने वाली वो मेकअप आर्टिस्ट ललिता का खून किया अशोक ने सिगरेट का एक और कष्ट लिया और फिर बड़े सब्र के साथ उसने बताना शुरू किया उसको मारना बहुत मुश्किल नहीं था मेरे लिए सबसे पहले तो मैं उसको नशे वाली गोली देकर बेहोश कर दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको ले जाकर समुद्र में डाल दी उधर उसको डुबा कर मार दी आ, फिर जब वो डेड हो गई तब मैंने पुलिस को क्लू देने के लिए उसके बॉडी पर केमिकल का नाम लिख दी पहले तो मैं उसकी बॉडी पर सिफ्रियो एक्सिम केमिकल का पूरा नाम ही लिखना चाहती थी लेकिन फिर मैंने सोची कि पुलिस तक जो भी क्लू जाए वो थोड़ी टेक्निकल होनी चाहिए इसीलिए मैंने उस केमिकल के टेक्निकल नाम उधर लिख दी ललिता की मर्डर स्टोरी बताने के बाद अशोकन ने फिर से सिगरेट का लंबा कष्ट लिया फिर उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए आगे की स्टोरी बतानी शुरू कर दी मेकअप लेडी का मर्डर करने के बाद मैंने फिल्म के डायरेक्टर को अपना टारगेट बनाई बट सर उसको मारना बहुत डिफिकल्ट था वो बहुत फैट था ना तो उसको उधर रो पर टांगने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई ऊपर से जब बॉडी बेहोश होती है तो उसको अकेले उठाना बहुत मुश्किल होती है मैं बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी को उठाकर रोप पर लटका पाया उसको मारने में तो मेरे को लगभग आधे घंटे लग गए oh it was very difficult job Ashokan ने सिगरेट खींचने के साथ ही अपना सिर हिलाते हुए कहा डायरेक्टर के बाद मैंने एक्ट्रेस सामंता को अपना टारगेट बनाई वो भी फिल्म में लीड रोल कर रही थी और उसका करेक्टर बहुत गंदा थी बिल्कुल रंडी का करेक्टर थी इसी वजह से उसको मारना तो जरूरी था सामंता का नाम जुबान पर आते ही अशोक उनके चेहरे पर गुस्से और बदले के भाव साफ देखे जा सकते थे अशोक ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा लेकिन दिक्कत ये थी कि सामंता कर का रिकॉर्ड में था ही नहीं मैं उसको मारना तो चाहती थी लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मैं उसको मार देती तो बाद में पुलिस का माइंड डाइवर्ट हो सकती थी क्योंकि मैं तो ये चाहती थी कि पुलिस को ये लगे कि कर ने निरूपा का बदला लेने के लिए सबका मर्डर किया लेकिन सामंता तो दयाकर की लिस्ट में था ही नहीं इसी वजह से मैं सामंता का मर्डर नहीं की लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता था मैंने सामंता को उसके टेंट के भीतर ले जाकर टेंट के भीतर आयरन का रॉड में उसके बॉडी को रोप से लटका दिया और उसका पैर के बगल में एक टेबल भी रख दिया ताकि उसका जान बची रहे <laughs> समंता के बारे में बताते हुए अशोकन अचानक से जोर से हंस पड़ा एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने सामंता को इस तरह रस्सी से लटका कर छोड़ा था मैं चाहती तो उसको वहीं पीट पीट कर घायल करके भी छोड़ सकती थी <laughs> समंता का मर्डर करने के बाद मैं अगले वाले को ले जाकर जमीन में घाट दिया आ, नहीं नहीं पहले तो उसको फायर फायर से जलाया था फिर उसके लिए गड्ढा खोद कर उसके भीतर उसको डाल दिया अशोकन ने आगे बताया इसके साथ ही उसने हंसते हुए कहा <laughs> मुझे मालूम है कि अब आप लोग कंफ्यूज होकर बोलेगा कि मैं उसका साथ ऐसा क्यों किया तो मेरा आंसर ये है कि बस ऐसे ही किया उस टाइम मेरा मन कर रहा था उस टाइम मेरी बॉडी में पता नहीं क्या हो रही थी मुझे ये सब करने में मजा आ रही थी इसलिए मैं ये सब कर रही थी <laughs> अशोक ने फिर अपने मुंह से धुआं निकालते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहा अच्छा आप लोगों को मैं अगर एक बात बोलेगा तो क्या आप लोग बिलीव करेगा क्या अनुष्का ने क्यूरियस होते हुए पूछा एक्चुअली मैं उस टाइम ये सब इसलिए कर रहा था ताकि पुलिस को सच्चाई पता लगाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़े और मेरे को ये भी पता थी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे ही भेजा जाएगा तो मैं खुद के लिए ये केस थोड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहती थी <laughs> आप लोगों को भले ही मेरी बात रेडिकुलस लग रही होगी बट उस टाइम मैं यही सोच रहा था अच्छा तो सबको अलग अलग जगह पर ले जाकर मारना और सबको अलग अलग तरीके से मारने की भी यही वजह होगी है ना अनुष्का ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा हम्म हाँ अशोकन ने फिर बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रहा था कि अगर सबको अलग अलग मेथड से मारा जाएगा तो फिर पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा <laughs> मेरा माइंड में उस टाइम यही चल रही थी तो अनुष्का ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा अच्छा तो बाकी के और दो के साथ क्या हुआ ओ ओ, ओ बताता है बताता है अशोकन ने बिल्कुल कैजुअली अपना हाथ हिलाते हुए कहा और फिर इसके साथ ही उसने अपने हाथ में जल रही सिगरेट की आखिरी कश खींचते हुए उसका भी दम निकाल लिया सिगरेट को उसने सामने रखे एस्ट्रे में मसल कर बुझा दिया और फिर पानी का गिलास उठाकर दो घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया इसके बाद अशोकन ने आगे की कहानी बताते हुए कहा अगला था नौशाद नौशाद अली इस पूरी स्टोरी का सबसे मेन विलन अशोकन ने फिर अपना दांत पीसते हुए कहा पहले तो मैं उसको टेंट से खींच कर लाइट हाउस तक ले आया फिर उधर लाइट हाउस के पास लाकर मैंने उसे पत्थर से मार मार कर मार डाला उसे मारने में मुझे सबसे ज्यादा हैप्पी फील हुआ अब आप लोग तो जीनियस है ये तो समझ ही रहा होगा कि उसको मारने में मेरे को कितना हैप्पी क्यों फील हुआ इसके बाद अशोक ने अनुष्का की आंखों में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए कहा नौशाद को मैंने लाइट हाउस के पास ले जाकर बहुत तरीके से मारी थी मेरे फादर के साथ जो हुई थी उसका बदला लेने के लिए ही मैं उसको लाइट हाउस के पास ले जाकर मारी थी ताकि फ्यूचर में कोई भी लाइट हाउस के केस पर फिल्म बनाने का बनाने क्या उसके बारे में बात करने का भी हिम्मत ना करे <laughs> और अब शायद कोई भी मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगी इसके बाद अशोक ने अपना दांत पीसते हुए कहा मैं नौशाद के चेहरे पर इतना पत्थर मारी थी कि वो खुद भी अपना चेहरा देखती तो पहचान नहीं पाती सलाह उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि का भाव देखा जा सकता था अनुष्का ने फिर से बात बदलते हुए कहा अच्छा तुमने जानबूझकर कौशिक को जिंदा छोड़ दिया था ना हाँ अशोक ने जवाब दिया सबसे पहले दयाकर को मारने के तुरंत बाद ही मैंने दयाकर के कपड़े और उसका हैट खुद पहन ली थी मेरी बॉडी का शेप भी दयाकर से मैच खाती थी इसी वजह से मैंने ये सोचकर उसका कपड़ा पहन लिया ताकि जो भी मेरे को देखे वो मुझे दयाकर ही समझे <laughs> कितना जीनियस है ना मैं इसीलिए उस रात मैंने कौशिक को जिंदा भी छोड़ दी थी ताकि वो बाद में पुलिस को दयाकर का नाम बता सके अशोक ने फिर एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मैं बहुत साल तक फ्रंट लाइन में काम की है सो मेरे को विटनेस की इम्पोर्टेंस पता है अगर मैं किसी आई विटनेस को छोड़ देता है तो सीधे पुलिस को दयाकर का नाम बता दे तो फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाती इसमें थोड़ी रिस्क तो थी नो डाउट रिस्क थी लेकिन ये मेरे लिए जरूरी था सो मैं जानबूझकर ये रिस्क लिया लेकिन ये विक्रांत इसको पता नहीं कैसे सब मालूम हो जाती है इसने पता नहीं कैसे ये गैस कर ली इसके बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने उधर बीच पर अपना बोट जिस डायरेक्शन में पार किया था जानबूझकर कौशिक को उसी डायरेक्शन में भागने के लिए मजबूर कर दी और जब वो भागते भागते उधर बोट के पास पहुंचा तो मैं उसकी बॉडी में नाइफ से अटैक करके उसे घायल कर दिया और फिर मैं उधर ही उसका सामने से बोट लेकर भाग गई उधर से बोट लेकर मैं पहले क्रू की बोट के पास पहुंची और फिर क्रू की बोट को रस्सी से अपने बोट से बांध दी इसके बाद दयाकर की डेड बॉडी को एक स्टोन का साथ अपनी बोट से कनेक्ट कर दिया इसके बाद मैं अकेले ही दोनों बोट लेकर मेन बीच का अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा उधर की तरफ थोड़ा दूर जाने के बाद मैं दयाकर की बॉडी को पानी में ड्रॉप कर दिया पानी इतना गहरा था कि वहां से डेड बॉडी को निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल थी और मैं क्रू का एक बोट इसलिए लेकर भागी थी ताकि पुलिस को यह लगे कि दयाकर ने सबका मर्डर किया और फिर वो बोट लेकर उधर से भाग गया चुप साले अचानक से विक्रांत ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा अशोकन चौंक उठा और वो घबराई हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगा साले हमें बेवकूफ समझता है मन घड़ंत कहानी बता रहा है अपनी ये फिल्मी स्टोरी बंद कर सच सच बता क्या हुई मैं मैं सच्ची तो बता रही अशोकन थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था अच्छा सच बता रहा है तू साले मुझे पागल समझता है क्या तूने अभी तक अपनी माँ का नाम क्यों नहीं लिया वो भी थी ना तेरे साथ उसको बचाने की कोशिश कर रहा है विक्रांत ने अशोकन को घूरते हुए कहा